लगे मुनि समन सुन सुमुख सुलोचने कथा भव बंध धर्मराज नय ब्रह्म विचारू

बुध बोध विशारद भरत चरित कीरति कर सब शरीर जर सुन निरुपम पुरुष भरत भरत समझानी कवि सुमेरु किशोर समा कवि कुलमति सकुजान है यहाँ पर महिलाओं की सभा होने के बाद सुनंदा जी सीता जी को लेकर के अपने स्थल पर पहुंची वहाँ पर सब उनके जितने परिवार के लोग हैं सीता जी से मिले जिन्हें जी मिले और सीता जी वहाँ से विदा होकर के चली है उसके बाद सुनंदा जी ने भरत जी की संबंध में चर्चा करने की से की और बताया कि सब निधान हो शिव निधान हो कैसे उन्होंने अयोध्या पर के लिए राज्य प्राप्त करने के लिए और राजा शासन करने के लिए प्रस्ताव रखा गया कशुपनी ने भी कहा मंजुआ ने भी कहा कौशल्या की माताओं ने भी कहा जो तुम भरत जी है तो स्वीकार करके सुख में आना है प्रकार से जी के साथ हो रहा है उनका साथ है भगवान श्री जी के प्रति बड़ी प्राप्ति है लौकिक दृष्टि बात प्रेम अत्यधिक है परमार्थिक दृष्टि भरत भगवान राम को अपने को समझ करके उनके प्रति अनन्य भाव से समर्पित है अपनी उनके हृदय में बहुत अधिक हो ये सब बातें जी ने उनको जनक जी से बोली कौशल को रही थी महिमा जो शनरा जी बोल रही थी तो उसका प्रभाव चर्चा हुआ जी कहते हैं तो सुन भूमकांड भरत पता लगता है सुनैना जी ने भरत के समस्त व्यवहार का जो कुछ उन्होंने बात किए वहाँ से यहाँ तक स्वीकार होकर वो सब सुनैना जी ने उनको सुना दिया तो उसको सुन करके प्रभाव क्या हुआ जनक जी ने देखा कि पृथ्वी का चरित्र तो है उनसे गाड़ी बहुत ही श्रेष्ठ जा रही है तो ऐसे लगे कि स्वर्ण सुगंध सुधार सुचारू अब जो भरत का जो चरित्र व्यवहार या उनकी जो महिमा है वह एक स्वर्ण के समान है सब कृष्ण जी और उसमें सुगंध भी है बोला जाता है लेकिन वो नहीं होता है ऐसा सोना जिसमें की सुगंध भी हो और जिसमें की देखो सोने में मान देखो कितना सुंदर सोना हो गया तो कहते सुना कस कानू कस चंद्रमा का जो अमृत है ऐसा जब सोना हो तो समझो कि धरती का चरित्र किस प्रकार का है अभी धरती की महिमा के संबंध में नाना प्रकार से धरती चरित्र का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी तो यहाँ ये जो उदाहरण दिए उससे बात तो ये है कि धरती में पहली बात तो ये है कि वो धर्म का है उन्होंने धर्म के ध्वनि को धारण कर रखा है ये आगे चल के बार बार बात आएगी भगवान श्री राम जी भी बनेंगे पहले भी बात करते आ रहे हैं कि भरत जी वो जो लाहौर में सभी भरत को हाँ? धर्म धर्म धरणी धुरी धरणी भरत को उसमें धर्म की धनी को कम धारण करता इसके माने है धर्म जो है चारों तरफ धरती सबको सुख देती है ऐसे ही उन लोगों सनातन भाव से पालन किया जाता है जो फिर वो अन्य लोगों को भी परिवार में समाज में सभी लोगों के लिए सुखदायी बन जाता है और श्रेष्ठ भी है जो धर्मनाथ भाव से पालन किया जाए तो कह सकते हैं वो स्वयं समृद्ध और फिर निबंध के बाद में और और सबको लेकर परमात्मा की स्मृति की गति हो ज्ञान और भक्ति की हो परमात्मा का ज्ञान हो भगवान की भक्ति हो परमात्मा का ज्ञान हो तो वो तो अमृत तो है ही है अमरनाथ उसने प्राप्त कर लिया तो ऐसा अमृत को प्राप्त करके उसका उदाहरण ये दिया जाएगा उसमें सब परमात्मा का सब निवारण कभी देखो काव्य में ऐसा होता है कि जो उपमेय <clears throat> है वो लुप्त होता है उपमान तो की उपस्थित होते हैं उपमेय तो लुप्त उसमें धर्म अहंकारता अनासक्ति और परमात्म लुप्त है लेकिन दृष्टान है जो मानव के समान है सदम्ब के समान है मैंने अमरत्व के समान है का समाज के समान है ये दृष्टान्त मात्र है उससे फिर जिसका दृष्टान्त दिया जा रहा है उसके लिए वो अपने आप देखना पड़ता है दूसरी बात ये कि सुधा पर हो सुधा को अनेक प्रकार का है अनेक प्रकार के अमृत प्रसिद्ध है जैसे कि समुद्र से भी अमृत काम अमृत है महाराज लोग अमृत है अमृत कलश एक अमृत जो है वो चक्रमान है तो जितने भी अमृत है उनमें जो अगर सुना जाए तो श्रेष्ठ अमृत कौन है वो चक्रमान है तो इसलिए कहते हैं सुधार उसमें ही है सुधार की अमृत तो उसमें ही है तो उसमें लेकिन आमंत्रित भी उच्चकों के नाम इसलिए कहने संसार परमार्थ तो है ही है ज्ञान में भी परमार्थ है उपासना में भी परमार्थ है कर्ज में भी परमार्थ है लेकिन यहाँ पर जो है ये परमार्थ जो सुना है भरत भरत जी की चर्चा में वो परमार्थ है वो परामर्शिका है अनंत संस्था का वो आपको जोड़ने है ये सुनिश्चित है तो इस प्रकार से करके जो है अच्छा का मानो एक प्रकार से संपर्क हुआ उनकी घटना का प्रयास हुआ और इसको सबको सुनते सुनते कृष्णला जी के मुख से सुना लक्ष्मण जी ने सुनते हुए जो प्रबंध कर दिए जैसे उनके सजन नयन स्वरूपीजन उन्होंने सुनते सुनते आशा बंद कर माने अपने मानो अपने हृदय में भी कुछ देखने लगी अपने भीतर ही भीतर और गंभीरता से विचार करने लगी और सगन में पुनकीर्तन के माने में सभी प्रेम की भी अनुभूति होने लगी अनुराग जागृत हो गया उनके हृदय में इसलिए मूर्तियों में प्रेमास्वाद शरीर प्रेम से परिचित होने लगा ये दशा जनक की हो गई भरत जी के चरित्र को सुनते सुनते और सुजस सराहने लगे मुझे तो मन और फिर बड़े ही प्रसन्न मत होकर के आनंदित होकर के प्रेम से परिपूर्ण होकर के वो भक्त की महिमा का स्वयं अपने रूप से वर्णन कर लगे उन्होंने कहा कि तुमने जैसे भरत की चरित्र का तुमने वर्णन किया उनसे सुनहरा जी कहते हैं कि देखो वो भरत की महिमा तुम कहो या हम कहें बहुत थोड़ी है उनकी महिमा का कारण नहीं किया जा सकता उसका वर्णन करते हुए जनक जी का आरम्भ करते हैं कि सावधान सुन सुमुख विवेचन है प्रमुख को सर्वता संबोधन है हे प्रमुख हे सुदर्शन सुनो सावधान होकर भारत क्षेत्र की महिमा को समझने के लिए व्यक्ति को गंभीरता पूर्वक एकाग्र होकर के अपने हृदय की गहराई में कर होकर के जब ध्यान देगा तब समझना है ये कोई ऊपरी बातें नहीं है जहाँ तक खोल करके बाहर से बहुत बड़ी बातें बात बातें और जल्दी समझ में आ जाए जो है आध्यात्मिक बातें प्रकट तो आध्यात्मिक रूप से मानता के साथ है इसलिए उसको समझने के लिए व्यक्ति को अपने हृदय में की सावधानी से समझना चाहिए सावधान समुद्र सुलोचन भरत कथा सर्वमंद विमोचन भरत जी का कथा मैंने भरत जी का चरित्र मैंने भरत जी भगवान उनके व्यवहार उनके उनका निधन बोलचाल उनका और जितने भी उनकी घटनाएं घटी उनके जीवन में जो कर्मी हुई जो कि समाज में सो किए जैसे कार्य किए ये सब भरत जी की कथा है तो भारत कथा कहती है कि भरत कथा को कहें या भरत जी की कथा को सुने या भरत जी की कथा को सुनावे तो उसका फल क्या होगा तो जैसे भव बंधन से मोचन तो भव बंधन से बहुत छुटकारा करने वाली निमंत्रण काटने वाली भव बंधन नष्ट होने वाले हैं प्रवर्तन मन संसार बंधन अब देखो संसार बंधन को ध्यान रखना चाहिए बार बार व्याख्या में करनी पड़े उसकी उसको स्मरण रखना भाव बंधन के माने क्या है संसार बंधन के तात्पर्य क्या है जीवन में जो अपनी कल्पना को राजनात्मक मानसिक सृष्टि से रखती है वही उस जीव के लिए बंधन है और उसी के कारण जीव अपनी उसी कल्पना के लिए एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करता रहता है और अपने सुधांशित कर्मों का में घटता हुआ जन्ममान करने में भटकता रहता है यह जीव का संसार हर जीव का अपना अपना संसार है और अपने अपने बंधन में हर ये बंधन छूटना चाहिए और शास्त्रों का कथन है कि जब व्यक्ति इस बंधन से छूट जाए जीवन में सावकारी कल्पना आत्मसात्मक और मेरे मन की कल्पना को त्याग दे और आत्मनिर्भर होकर के शरीर में प्राण मन के द्वारा जो जगत है इसमें सुबह से दिन व्यवहार करे उसके ये राजनीतिक संसार न वो मुक्त है और मुक्त जीवन जीता है और जीवन का सर्वोत्तम रूप यही है इसलिए कहते हैं सुख को प्राप्त करने के लिए बार बार करे बार बार सुने समझने का प्रयास करे धीरे धीरे करके उसके जीवन में भी भक्ति के जैसे जो आने लगेंगे और वो भी भवबंध से मुक्त हो जाएगा धर्म राज्य में ब्रह्म विचार हो अब जनक जी कहते हैं कि मैं धर्म के संबंध में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ राजनीति के संबंध में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ और ब्रह्म विचार ब्रह्म तत्व क्या है ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म का क्या है समझ सकता हूँ यहाँ से काम अपने मेरे तक मेरी बुद्धि काम करती है कहाँ तक इसमें हमारा प्रचार है पर प्रवेश संबंध में हम विचार कर सकते हैं गलत जी कहते हैं थोड़ी बहुत बुद्धि हमारे अंदर है उस बुद्धि से हम धर्म की सारी विचार कर सकते हैं धर्म धर्म क्या है राजनीति क्या है राजा शासन क्या है उसे राज्य का शासन व्यवस्था कैसे करनी चाहिए ये भी थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं और परमार्थ क्या है धर्म क्या है जगत क्या है जीवन क्या है ये भी थोड़ा बहुत हम समझ सकते हैं अपने बुद्धि का अनुसार यहाँ तक तो बुद्धि हमारी काम करती है लेकिन शिव मत मोर भरत महिमा ही लेकिन वो हमारी जो बुद्धि है जब भक्त की महिमा का हम विचार करते हैं उधर की तरह हमारा ध्यान जाता है तो चाहे चाहे कहा वचन चाहिए तो जग की महिमा को तो करे क्या बुद्धि कहना तो दूर रहा छल से हाथ हाथ होने के मारे भरत जी को और भरत के चरित्र को छूना पहुंचना वहां तक ज्ञान परोक्ष रूप से धर्म का ज्ञान हो योगी तो बुद्धि से जाना जाता है शास्त्रों से कहा सुना ज्ञान होता है कि परमात्मा ऐसा ऐसा सचिदान का स्वरूप है नित्य है शासक है अनाथ है उसकी माया संसार की रचना हुई है ये सब परोक्ष रूप से जान लेते हैं इसकी बुद्धि काम वहाँ करती है लेकिन जब ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त हुआ हुआ है परमात्मा की दीदी जब तो हो गया है और उसमें जो वो जीवन मुक्त है परमानंद में स्थित है तो ऐसे व्यक्ति की स्थिति का वर्णन करना या अपरोक्ष परमात्मा का वर्णन करना ये बात है हाँ मन को तुम्हें नहीं कहेंगे यथो तो वाचा निवर्तन से अर्थात मन का जहाँ पर की वाणी और मन वहाँ से द्वार से मानो टकरा के लोग आते हैं और उसमें प्रवेश नहीं कर सकते मानो परिणाम का स्थिति है बुद्धि से कल्पना की स्थिति है उसका वर्णन कैसे करें तो जैसे उस परमात्म का वर्णन नहीं कर सकते तो परमात्म को प्राप्त भक्त का भी वर्णन नहीं कर सकते अलग किए गए और कहते हैं देखो उसका वर्णन वर्णन करने वाले विश्व में एक से एक माध्यम के अंदर बड़ी बड़ी बुद्धियां लोगों की है बड़े बड़े समझदार आशा का ज्ञान भी लोगों को बहुत बहुत है और वो सब लोग वर्णन भी करते हैं लेकिन वर्णन करने वाले देखो सबको गोस्वामी जी ने भी पंच में मिलाया कितने लोग हैं दीदी गणपति गणेश हरिपति कृष्णा शिव शंकर सारक दर्शक कभी कम से कम गलता लिखने वाले ने कभी तो माने शराब के रहते तो शराब के के तो माने शास्त्रों की ज्यादा शराब बुध बुद्धिमान और बुद्धि विशारद और दूसरे जो बुद्धि में विशारद है हम्म, अब उनकी जनक तो प्रकार के लोग हैं देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ छः नौ बता जैसे तो इसमें नौ प्रकार की शक्ति है ये संसार है लौकिक है अलौकिक है द्योकोट के है ब्रह्मा जैसे जो है है ये सबके सब है लेकिन भक्त चरित्र की जैसे प्रकृति लेकिन भक्त जैसा चरित्र है जैसे उनकी कीर्ति है जैसे उनकी गाड़ी है धर्म जैसे उनकी विभूति जैसा उनका धर्म है जैसा उनका चीज है गुण है जैसी जल की निर्मल होती है महिमा है जैसे समुद्र सुख सुखद सबका जैसे समझने में जो हो समुद्र सुनत समझने में सुनने में सुखद सबका सबको सुख रह आती है और सुख सुन कर उनके निधन सुधा हो हैं ये हकीकत है ये सचिव सुनिश्चित मैंने गंगा जी समान पवित्र है और रुचि दर्श और ऐसी सुंदर उसकी है कि वो जो है अमृत का हमारे अमृत से अधिक रुचिकर है गंगा जी से ज्यादा पवित्र है ऐसी उनकी और का चरित्र बनना है जिसका विवर्तन भी कोई नहीं कर सकते और चरित्र की रुचि चरित्र देखो खत्म लगेगा भारत का चरित्र जो व्यवहार करके आचरण करता हो आचरण व्यवहार भारतीय की भारत में जो कुछ किया उसके शुरू हुआ है भरत का कर्तूती कर्तूती मन कार्य उसके भरत धर्म अभी तक धर्म भरत जी की कितने धर्म का है विचार और सील गुण ये सब गुण है गुण है सील निधान है गुण निधान है विभूति उनकी महिमा है उनका विरोध की तरफ की सब सब ऐसे इनका वर्णन करे कोई जो तो समझे तो सुने तो सुख नहीं सकता जो सुनेगा समझेगा उसको भी सुख होगा जो उनका वर्णन करेगा उसको भी सुख होगा अगर एक नियम ये है यदि कोई किसी व्यक्ति की निंदा करे और दोषों का वर्णन करे तो दोषों का वर्णन करने में व्यक्ति को अच्छा जरूर लगता है लेकिन दोष का वर्णन करते हुए किसी के मन को प्रसन्न नहीं निंदा करते हैं दोषों का वर्णन कर रहे हैं किसी के मन को हो प्रसन्नता हो लेकिन गुणों का वर्णन करेगा तो मन में प्रसन्नता आएगी ऐसा क्यों है देखो मनोवैज्ञानिक का गुण जितने हैं वो सब सुख देने वाले गुणों जो है दुख देने वाले जब व्यक्ति जो वर्णन करने वाला भी है दुर्गुणों का वर्णन भी करेगा तो उसके मन में जब दुर्गुण आएंगे उनका खूब एक कल्पना उसकी हुआ उसके मन में आएगी तो उत्तर वो कर्म कर पाएगा और उस समय जब वो दुर्गा उसके मन में आएगा उसकी कल्पना उत्पन्न होगी तो वो दुर्गा उसके मन में दुख देगा स्वभाव का लोगों का प्रभाव दुख देना है इसलिए जो लोग दुर्गुणों का वर्णन करते रहते हैं दोषों का वर्णन करते रहते हैं वो अनजाने में ही अपने आप को दुख देते रहते हैं उनके संगत जो व्यक्ति दूसरे लोगों को गुण प्रदान करते हैं महिमा सुनाते रहते हैं उनके अच्छाइयों के गुणों का वर्णन करेंगे उनके सुंदर चरित्रों का वर्णन करेंगे तो जब वो सुंदर चरित्र उनके मन में आएंगे वो जब उनके मन में आएंगे तब तो गुणों का वर्णन करेंगे और जब गुण मन में आएगा तो सभी गुणों का सुखयोग तो वो व्यक्ति के अंदर सुख देता है और जो व्यक्ति गुण निधान स्वयं गुण निधान है तो उसका गुण के अंदर विद्यमान नहीं है उसको देता है कोई व्यक्तिशील निधान है उसकी एक उत्तम गुण है जो स्वयंशील होगा उस चीज को उसके अंदर ही उसको सुख दे रहे कोई व्यक्ति लोगों को प्रतिमा करने वाला है तो ये भाव जो व्यक्ति के मन में आएंगे तो उसको मन में उसको सुखान ये सब मनोविज्ञान की मानसिक रचना किस प्रकार की है और विचारों का भावों का मन के कैसे प्रभाव पड़ता है ये सब शास्त्रों में ये सब शास्त्र का ये सब समझते हैं लोग क्या वर्णन करते रहते हैं इसलिए हैं कि समझ तो सुना तो सुखद सुनता लेकिन सत्य का चरित्र सुनने समझने में सब कुछ सुख देने वाला है सुख देने की बताए कैसा सुख देने वाला है अब कहते हैं स्वच्छ सुरसर ही क्योंकि भक्त का चरित्र गंगा जी के समान पवित्र है उसमें कोई दोष नहीं निर्मल चरित्र है इसलिए वो सुख देता है और निधन सुखाओ का अमृत के समान मधुर तो ये सुख तो ये कहने का तात्पर्य सब प्रेरणा इस बात की है कि भक्त के चरित्र को बार बार पढ़ना चाहिए बार बार सुनना चाहिए बार बार सुनाना चाहिए जैसे कि व्यक्ति के अंदर भक्ति के जैसे गुण उनके जैसे जो है वो है उनका धर्म उनका सील उनके जैसे आचरण उनका जैसा व्यवहार जीवन में अवतरित हो वो भी वैसा ही बनेगा जैसे मयोयम पुरुषा ये हाँ, हम लोग भी बन सकता है वेद के वचन क्योंकि मयोजन पुरुषा हाँ, ये पुरुष क्या है स्वप्नमय स्वप्नमय के माने है वो जैसा विचार करता है जैसे संकल्प उसके मन में उत्पन्न होते हैं वैसा ही वो व्यक्ति होता है स्वप्नमयोयम स्वप्न संकल्प जो व्यक्ति जैसे विचार करके जैसे को अपने मन में बना करके रखेगा समझो ऊपर भी वैसे ही जाए उसका शब्द भी वैसा ही हो जाए इसलिए एक तरीके से शब्दों का या भगवान की तरफियों का स्मरण करता है और तत्पर को जैसे ही उसका संकल्प भी वैसा ही करता है तो सचमुच है और तो वैसा ही होना भी चाहिए उसी और आनंद शक्ति है उपयोग होते हैं तो भावनाओं ग्रंथ को श्रवण करना चाहिए समझने की कोशिश करना चाहिए और सावधान होकर के समझना चाहिए समझने समझ के लिए जो शब्द तो सुना मुझे ऐसा लगता है प्रत्येक शब्द को वो सामने कहते सुनना चाहिए और समझदारी के साथ सुनना चाहिए सुनने के माने नहीं काम तो सुने और सुन रहे हैं जिसमें फिर कुछ नहीं है जिसमें कुछ कह नहीं रहा है भाव कुछ तो नहीं रहा है उसमें प्रेम कुछ कर ही है उसमें ऐसा नहीं होना सोच करके सोच करके सुनना चाहिए सुनते हुए उसको समझने की कोशिश करें कि भारत में क्या ऐसी बात है जिसके कारण समय कहे जाते हैं भारत में क्या क्या उसका विधान कहे जाते हैं कोई विधान कहे जाते हैं ये सब उसको समझने की कोशिश करें लेकिन उसे समझ करके विधान करो तो मेरे बस परम पुरुष है कैसे कहते हैं कही सुनेर इसलिए सुन कविकुल मत पहुंचाना इसलिए कहते हैं कि कभी कविकुल मैंने विधान करने नहीं गया चाहे वाल्मीकि का है चाहे भक्त है चाहे और सभी लोग हैं ये लोग जब उनकी तुलना करने लगे भरत जी की हर के समान भरत है तो संकोच जब बुद्ध पड़ जाती बता तो नहीं बनता उनकी तुलना की जाती इस प्रकार से जी हमारे जनक जी ने व्रत की महिमा देखो आप देखते हैं कि वहां पर कल देखा है तो तो वो सुंदर जी की जैसे मुझे भी जिस प्रकार से उनको अपनी दृष्टि उन्होंने देखा था भगवान जी के प्रेम को उन्होंने देखा था तो सुंदर जी वगैरह आप देखते हैं कि जनक जी ने भी भरत जी की इस प्रकार से प्रशंसा की कि भरत जी कैसे महिमावान तो जैसे जैसे ये लोग भगवत जी को समन्वय करते हैं जैसे जैसे ये बात उत्पन्न होती है कि भरत जी का वो है भारत जी के क्या शक्ति के